अहङ्कारी भवति न करोति ते दयालु ते दयालु न भवति ते इति बहुवचनं दयालु इति अधुना दृश्यते कथम विभक्ति दोष है वचने दोष है, कार के दोष है न वा अब कुछ आत्मा परमात्मा योग का विषय है आपको कभी देखने को मिलता हो आप निरीक्षण करते हो कभी क्या हम विचारों में एक व्यक्ति को विचार करता नहीं देखते वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं वो व्यक्ति कहता है आप मुझे कुछ धन दो धन की सहायता करो वो व्यक्ति कहता है आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं ऐसा कभी मन में कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है ऐसी बातें करने वाला ये तो कुछ उदाहरण दिए बताओ कौन बता समझ में नहीं आया समझ में ही नहीं आया किसको नहीं आया समझ में समझ पूरा eh? अच्छा अच्छा ये बताओ स्वप्न में आपको ऐसी चर्चा करते हुए नहीं देखा लोगों को ये बताओ अपना आप हमें बताओ ऐसी बातें करते हो और आपसे बातचीत करते हो कभी आपके मित्र भी हो कभी आपके विरोधी भी हो ऐसा नहीं देखते आप सपन में ये तो आया समझ में साधक हाँ, जी नहीं नहीं सपना अवस्था में नहीं देखते आप कहीं कहीं करोड़ा आता ही रहता वो हम नहीं हम तो कहते वो स्थिति सपन में होती है या नहीं ये देखो स्वप्न में आपका मित्र अपनी बात करता है विरोधी अपनी करता है आपसे कुछ मांगने वाला मांगता है आप दूसरे से मांगते हैं और ये बातें नहीं करते देखते दूसरे लोगों को है क्यों साधक ना समझ में या नहीं आया जैसे स्वप्न में बात करते देखते हैं दूसरा न होते हुए ऐसे जागृत अवस्था में मन में देखते हैं या नहीं अब बताओ अरे आपने ये भी सुना होगा देखे जी मैं ध्यान में बैठा था और ध्यान में जब बैठा था तो एक व्यक्ति ने मुझे ये कहा तेरा कल्याण हो जाएगा तू दोनों समय परमात्मा की उपासना किया कर और मैं बैठा था ये वाणी हुई और मैंने सुनी और भाई मैं तो सचेत हो गया और उसको नहीं ये मान के वास्तव में ये तो सच्चाई है और ये कौन है उपदेशक ये भगवान ने ये आवाज दी थी या कोई महात्मा था कोई समाधि लगाने वाला महात्मा जो था शरीर नहीं था वो था ये और मुझे तो उपदेश दे गया वो नहीं नहीं सुनी के ये बातें वही तो मैं बात कर रहा हूँ जागृत अवस्था में अच्छा बताओ समझ में आ गया आप तो कुछ कुछ नहीं आया तो फिर सुनो बोलो स्वामी इस की तो नहीं होती पर में घटने वाली घटनाओं का कभी कभी है मैं व्यक्ति को ले रहे हूँ व्यक्ति व्यक्ति बात करता है व्यक्ति बात करता है समझे और व्यक्ति बात करता दिखाई देता है और ये जीवात्मा कल्पना कीजिए वो व्यक्ति कहता है यहाँ से ये चीज उठा उठा लियो आप वो कहता है चोरी की बात ले लो वो कहता है यहाँ से इस वस्तु को उठा के काम में ले लेना चाहिए व्यक्ति कहता है चोरी के रूप में ले रही थी समझे और ये इस व्यक्ति की बात ठीक नहीं है मैं नहीं मानूंगा इसकी बात तो जीवात्मा ये कहता है अब क्या समझ मारा आपको भी कुछ आ रहा है समझ में <laughs> हाँ जी विनोद जी हाँ, हाँ। और हाँ, ये ये कहता है ये व्यक्ति जो मुझे चोरी करने की कहता है ये बहुत गलत खराब है मैं नहीं करूंगा मैं इसकी बात नहीं मानूंगा और ये परमात्मा से शिकायत करता है ये तो व्यक्ति की बात सुनाई मैंने यदि मन में ये बात आती हो चोरी करने की व्यक्ति को बताओ तो मन के विषय में शिकायत करेगा कि देखो परमात्मा ये मन जो मुझे चोरी की बात करना सिखाता है चोरी करने के लिए प्रेरणा देता इसलिए ना दुष्ट इसे बताओ मुझे हम भगवान के सामने प्रार्थना करता है मन का आया समझ में नहीं आया व्यक्ति का तो दिमाग है मन का आया नहीं आया ये तो आ गया और उस व्यक्ति को किसने खड़ा किया तो ये चोरी कौन ये दीवार तुमने खड़ा किया उसको बनाया क्या नहीं बोलो और ये व्यक्ति सावधान हुआ सचेत हो गया वेद दर्शन उपरी चार प्रकाश पढ़े सुने और इसका ज्ञान काम करता है कि वास्तव में ये जो विचारधाराएं चली व्यक्ति बना दिखाई दे, दे रहा है या मन में ये चोरी करने की बात आ रही है ये तो मैं आत्मा चेतन हूँ और ये मन और बुद्धि अंतर अंतरण जड़ पदार्थ है इनको मैं ही पैदा करता हूँ मैं व्यक्ति बना के पैदा करता हूँ वो साधारण कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं तो मैं कल्पना कर रहा है बना के खड़ा किया उसने चोरी की प्रेरणा की मुझे और मैंने कहा चोरी नहीं करूंगा फिर नाराज हो गया ये सारा जो वार्तालाप सारी कल्पना ही जीवात्मा कर रहा था और इसलिए सावधानों के सिद्धांत को समझ के उसको प्रयोग को पकड़ा पकड़ा तो वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा हटा दिया मन कोई चीज लागे खड़ी करे वो नहीं आ, आ पाएगा आप कभी प्रयोग देखेंगे आपने मन को एक विषय से उल्टे विषय से रोका रोकने पर तत्काल दूसरे विषय को उठा के खड़ा कर दिया उसने मन न कर दिया मन के द्वारा जीवात्मा कर दिया अब क्या समझ माया बोलो एक विचार को रोकने पर एक विचार को रोका पर इतने काल में उसने दूसरा विषय खड़ा कर दिया तो उसको रोक दिया फिर तीसरा खड़ा कर दिया उसको रोक दिया फिर चौथा खड़ा कर दिया अब इसके बेचारे के बस में ही नहीं आ रहा है अब ये ऐसे कहे कि मैं सारे बेचारे से रोक दूंगा मन कोई तो इसके दिमाग में बैठना मुश्किल हो जाएगा क्या समझ में आया दूसरे कारण विशेष में ये संभव हुआ प्रतीत भी होता है स्वामी जी कारण विशेष में अपनी असमर्थता सामने दिखने पर भी दूसरे कारण विशेष में वो शुक्र भी प्रतीत होता है इससे उसको पूर्व स्मृति यदि रहा है तो इस समय असमर्थता अनुभव करता हुआ भी यह अनुवाद कर सकता है उसने एक विचारधारा को रोका रोकते ही तीस वर्ष पहले कोई खेल किया था उन्हें कबड्डी खेली थी चोट लगी थी उसको रोक दी और चोट की करने याद आ गई अब वो फिर वो उसको रोक दिया नहीं उनको फिर उन्होंने अच्छा भोजन खाया था चटपटा बड़ा अच्छा लगा था वो उसको रोकते रोकते वो आगे खड़ा होगा वो अच्छा भोजन खाया था फिर बड़ी विचित्र बात फिर वो उसको रोक दिया फिर एक उसका मित्र था विशेष प्यार था वो उसका चित्र आ गया कैसी विचित्र बात और फिर कहता है परमात्मा ये मन बहुत दुष्ट है ये देखो कैसे ज्यादा खड़े कर रहा है इस तरीके से हमने शिकायत करता है ये देखो कितना बुरा है ये चोरी की आदत थी वो जाके खड़े कर दी लड़ने की आदत थी वो इसको इससे बचाओ मुझे परमात्मा क्या सोचता होगा बताओ ऐसे <laughs> व्यक्ति के प्रति परमात्मा क्या विचार करेगा बताओ तो रवि जी है हाँ क्या बो? क्या सोचता होगा ये व्यक्ति कितना मूर्ख है स्वयं ही उठा रहा है और मुझे फिर शिकायत कर रहा है और शिकायत करता है कई बच्चे भी ऐसे होते हैं बालक ये बेटा ना आदित्य ठीक है ये पहले तो मार देगा उसको तो। मार मूर्ख है और माता जी के पिताजी देखो पिताजी वो मार रहा हूँ देखो वो मार रहा हूँ मारेगा ये पहले और शिकायत करेगा उसकी और जानने वाला तो दीमान माता पिता हो देख रहे हो कि ये मुझे बैठा रहे तो दो थप्पड़ पहले लगाकर तू चुप हो पहले <laughs> और फिर बात करे तूने मारा है उसने तो कहता उसने मारा दो फेर मारे बोल उसने मारा तूने नहीं मैंने ही मारा ये इन माताओं की बात बता रहा हूँ ये जो बच्चे को कैसे बिगाड़ती है और सुधारती हो तो कैसे सुधरता है ये कैसा भी ज्ञान है आत्मा मन के विषय में ईश्वर के विषय में और तो और ये परमात्मा को भी बहकाने की बात करता है जी आप और तो और ये ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मानता कैसे पता चला मन में ये उल्टी विचारे दारा ही सोचता बुरा ही सोचता और वहां पर ईश्वर विद्यमान है ये भी कहता है अब वो जो बुरा सोच रहा है वो ईश्वर का दंड निश्चित देगा ये नहीं मान के ईश्वर के होते हुए बुरा सोच रहा है ईश्वर वहां है और ईश्वर को नहीं मान रहे ईश्वर सारी बातें जान रहा है और दंड भी देगा वो इसको नहीं मान करके सारे विचार कर रहा है अब बताओ अच्छा ये बताओ आप दिन भर जो मन में सोचते हो मन में विचारते हो वो सारा ईश्वर समर्पित होता है या ईश्वर समर्पित नहीं भी होता हाँ जी ईश्वर जी हाँ जी रणवीर जी बोलिए नहीं हो तो पाता आप बोलेंगे अधिकांश नहीं होता बहुत अल्प ही होता है थोड़ा आप अपना अपना बताओ कुछ समय के लिए होते क्यों हाँ जी जब ध्यान देते हैं तभी होता है हम्म। और वो समय बहुत न्यून है जैसे पढ़ाई में नहीं हो पाता और कार्य करते समय नहीं हो पाता हम्म। ध्यान उस समय जब नहीं हो पाता तो ईश्वर आपको अच्छा व्यक्ति समझ रहा है या बुरा ये बताओ अपना अपना दो उत्तर जी को याद हो अपना बताओ फिर आपने जान लिया बुरा समझता है और पतनाला वहीं पड़ गया है हरियाणा की भाषा क्या है वहां एक कथा बना रखी है ना कि भाई पतनाले होते थे ऐसे मिट्टी के बना करके ऐसे और उनको पका लेते थे और छत के ऊपर लगा देते थे जो कच्ची छतों पर लगा देते थे और उसमें पानी निकलता था तो उसमें पतनारा बोलते हैं हरियाणा की भाषा में क्या समझ में आया नहीं आया आया अच्छा फिर इसकी कथा सुनी या बनाई या घटना हुई ये अलग बात तो एक व्यक्ति ने पड़ोसियों को बुलाया या पंचायत को बुलाया पंचायत को बुलाया देखो भाई इस व्यक्ति का पतनारा छत का पानी मेरे आंगन में पड़ता है और वो काट दी आप जानते हैं इतने ऊपर से पड़ेगा तो काट डालेगा भूमि को गड्ढा बनाएगा जैसे यहाँ काट देते तो पंचायत के सामने कहा देखो भाई इस व्यक्ति का पतनाला मेरे आंगन में पड़ रहा है वहाँ गड्ढा हो गया है मिट्टी खुद रही है और हर आंगन खराब हो गया इससे समझाओ इसको ये पतनाले को बदले या नीचे पत्थर लगाए कुछ भी तो करे तो वो जिसका पतनाला था भाई बात बिल्कुल ठीक है पतनाले से भूमि कटती है गड्ढा हो गया है सब हो गया और पंचायत की बात बिल्कुल मानता हूँ पर पतनाला वहीं पड़ेगा पंचायत की बात शर्मा थे और पतनाला आप कितना ही सिखाओ आपको पतनाला वहीं पड़ेगा भगवान के अर्पण नहीं करना अब बताओ आपको कौन सुधार सकता है हठी दुराग्रही अभिमानी व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकता ईश्वर भी नहीं सुधार सकता मनुष्य की तो कथा क्या हम्म? पढ़ाने वाले उपदेश देने वाले की तो कथा क्या है ईश्वर भी आपको नहीं सुधार सकेगा यदि ऐसा ईश्वर समर्पण नहीं करोगे तो ये देख लो आप आप जिस ईश्वर से संबद्ध होके विद्वान बनना चाहते हैं जिस ईश्वर से संबद्ध होके आनंदवान बनना चाहते हैं जिस ईश्वर से संबद्ध होकर के आप धार्मिक बनना चाहते हैं ईश्वर से संबद्ध होकर संयमी बनना चाहते हैं ईश्वर से संबद्ध होकर निष्काम कर्मी बनना चाहते हैं ईश्वर से संबद्ध होकर जितेंद्री बनना चाहते हैं ये सब कुछ जिससे संबद्ध होकर बनना चाहते हैं उसके साथ तो आपका अनुचित व्यवहार चल रहा है इस लिस्ट में आप नहीं बन सकेंगे ये अच्छी तरह समझना अभ्यास करते करते प्रयोग करते करते सावधान रह के चलते चलते व्यक्ति इस ईश्वर समर्पण को बढ़ाता जाता है ईश्वर असमर्पण को घटाता जाता है कम करता जाता है कि मैं प्रत्येक विचार को प्रत्येक वाणी को प्रत्येक शरीर की क्रिया को ईश्वर समर्पित क्यों न करूं और वो ये सोचता है मैं नहीं मानू ईश्वर समर्पित नहीं हुई तो मेरी मूर्खता की बात है मैं नहीं मानू तो भी ईश्वर समर्पण तो है ही है वो ये मानने लग जाए कि मैं करता रहूं और ईश्वर समर्पण नहीं है ये उसकी दूसरी मूर्खता है जो वो जानेगा जो वो विचार करेगा जो वो मानेगा जो सिद्धांत बनाएगा और जो वाणी से बोलेगा और शरीर से वो सब ईश्वर समर्पित है आप ये दिमाग बनाएंगे तीनों काल में कोई ऐसा विषय नहीं कोई ऐसा पदार्थ नहीं कोई ऐसी क्रिया नहीं कोई ऐसा विचार नहीं कोई ऐसी उपासना नहीं जिसको ईश्वर न जानता था कभी आज न किसी को जानता हो वो आगे न जानेगा ऐसा कोई भी विषय नहीं है अब आप कल्पना करें तो सब कुछ ईश्वर समर्पित है ऐसा मान के चलना सत्य है ठीक है विद्या है ऐसा मानने से ईश्वर के साथ ऐसा मानने वाले का संबंध जुड़ जाएगा और फिर ईश्वर की आज्ञा का वह पालन करेगा तो उसका व्यवहार भी ठीक हो जाएगा और उसकी विद्या भी ठीक हो जाएगी उसके संस्कार भी ठीक हो जाएंगे और ईश्वर से उसको विद्या मिलेगी आनंद मिलेगा धर्म सत्य मिलेगा ये उपलब्धियां हो जाएंगी अब विराम आज यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का दूसरा मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया आज के मंत्र में बतलाया है कि मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए कल बतलाया था ईश्वर इस सारे संसार में व्याप्त है ईश्वर संसार का राजा है इसलिए राजा के संविधान का पालन करना चाहिए यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो जो राजा होता है संसार की वस्तुओं का सेवन करो लोभ मत करो ये धन किसी का नहीं है ईश्वर का है तो वस्तुओं का सेवन करें त्याग भाव से करें कैसे करें उसका विस्तार आज के मंत्र में है वस्तुओं का सेवन करने के लिए पहले कर्म करो जो व्यक्ति कर्म नहीं करता और केवल फल भोगना चाहता है तो वो ठीक नहीं वो न्याय नहीं फल भोगने की बात तो कही कर कि फल भोगो संसार की में तुम्हारे लिए बनाई भोगो लेकिन पहले कर्म करो कैसे कर्म करें निष्काम कर्म करो आज के मंत्र में जो व्याख्यान है कुरवन एवं यह कर्मण इस संसार में कर्मों को करते हुए शतम सौ सवा वर्ष तक निजी विषय मनुष्य जीने की इच्छा करे सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे मनुष्य और कैसे जीने की इच्छा करे कर्म करता हूं आलसी न हो प्रमादी न हो पुरुषार्थी बने कर्म करके फिर भोगने की बात सोचे बिना कर्म किए मुफ्त में नहीं तो दो बातें आ गई अब तक एक तो सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे दूसरी बात कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी ना बने अब तीसरी बात यह है कि किस प्रकार के कर्म करने की इच्छा करें चार प्रकार के कर्म हैं योग दर्शन में तो आपने पढ़े ध्यान कौन कौन बताइए हम्म? हम्म। हम्म। तो चार प्रकार के कर्म हैं शुभ कर्म अशुभ कर्म मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म आज का मंत्र कहता है निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य जीने की इच्छा करे बाकी जो तीन है सकाम कर्म शुभ अशुभ और मिश्रित उनसे बचे उन कर्मों से बचे निष्काम कर्म करें कैसे पता चला मंत्र में तो कुरवन कर्माणी कर्माणी इतना ही शब्द है निष्काम शब्द तो मंत्र में है नहीं फिर कैसे पता चला कि ये निष्काम कर्मों की बात अन्यों की नहीं है तो मंत्र का जो दूसरा भाग है वो इसका स्पष्टीकरण करता है इतो अन्यथा न अस्ति इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं एक ही मार्ग है इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं निष्काम कर्म करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं किस चीज का और कोई रास्ता नहीं कर्म लिप्यते नरे कर्म जो है वो कर्मों के बंधन से यदि छूटना है तो फिर एक ही रास्ता निष्काम कर्म करना अन्यथा कर्म हमें बांध लेंगे सकाम कर्म करेंगे तो ये सकाम कर्म हमको बांध लेंगे जन्म मरण में बांध लेंगे जन्म मरण से नहीं छूट पाएंगे जन्म मरण से छूटना हो तो एक ही रास्ता है निष्काम कर्म करना तो मंत्र के दूसरे भाग से पता चलता है कि पहले भाग में कर्माणी कार्य निष्काम कर्म सकाम कर्म है यद्यपि वेद में अन्यत्र अन्य मंत्रों में सकाम कर्म करने का भी विधान है चार प्रकार के जो कर्म हैं इनमें से शुभ कर्मों के करने का भी विधान है और आगे चलकर कर्मों के करने का भी विधान है पर अशुभ कर्मों का विधान नहीं उनका निषेध अक्षय मा दिव्या युवा मत खेलो ये निषेध है जुआ खेलना अशुभ कर्म उसका तो निषेध न स्वयं अद्वी मैं चोरी करके नहीं खाऊंगा अर्थात चोरी का निषेध ये अशुभ कर्म चोरी करना उसका निषेध सत्यम वक्ष्यामी सच बोलूंगा न अन्यतम झूठ नहीं बोलूंगा झूठ का निषेध है तो वेद के अन्य मंत्रों में अशुभ कर्मों का तो निषेध है सर्वथा कहीं कहीं मिश्रित कर्मों का विधान है खेती करना इत्यादि इस तरह के जो कर्म है मिश्रित है उनमें कुछ अच्छाई भी है कुछ थोड़ी थोड़ी बुराई भी है कुछ पुण्य भी मिलता है थोड़ा पाप भी हो जाता है पर मिश्रित कर्मों में भी उनको करना चाहिए जिसमें लाभ अधिक हो पुण्य अधिक हो और हिंसा की मात्रा कम ऐसे मिश्रित कर्मों को करना चाहिए और उससे भी अच्छा है कि शुभ कर्मों को किया जाए और सबसे अच्छा है निष्काम कर्मों को किया जाए तो प्राथमिकता के क्रम से यूं कहा जाएगा कि <coughs> यदि व्यक्ति में सामर्थ्य है क्षमता है बुद्धि है संस्कार है वैराग्य है ज्ञान विज्ञान है तो वो निष्काम कर्म सबसे पहले निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए प्राथमिकता उसकी और जो निष्काम कर्म नहीं कर पाता बुद्धि नहीं है संस्कार नहीं है योग्यता नहीं है रुचि नहीं है ज्ञान विज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं है उसको समझ में नहीं आ रहा कि निष्काम कर्म करना चाहिए तो फिर सकाम कर्म करो उसमें भी जो शुभ कर्म है वो करो ये दूसरे नंबर पे छूट दी ये मजबूरी में छूट दी गई कि एक व्यक्ति निष्काम कर्म कर ही नहीं पा रहा बेचारा खाली तो बैठेगा नहीं कुछ तो करेगा ही निष्काम कर्म करने की तो योग्यता नहीं तो फिर मजबूरी में छूट दी अच्छा नहीं चलो तो काम करो पर अच्छे करना शुभ कर्म करना फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं तो इतने भी नहीं कर सकता मेरी इतनी भी योग्यता नहीं सकाम कर्म तो करूंगा निष्काम तो कर ही नहीं सकता पर शुभ कर्म भी नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूं भगवान ने उसको थोड़ी और छूट कर दी चलो भाई विकृत कर्म करें इतनी छूट दे सकते हैं बस इससे आगे नहीं दे सकते निषेध अशुभ कर्म होगा तो निषेध ही करती है वो तो नहीं करना कम से कम करो तो निष्काम करो वो नहीं होते तो सकाम कर्म में शुभ कर्म करो वो भी नहीं होते तो मिश्रित कर लो बस इससे नीचे नहीं जाना ये ईश्वर का विधान है संदेश है सुझाव हमारे लिए कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं कर्म में हम स्वतंत्र हैं फल भोगने में सिर्फ संविधान के अनुसार उसमें हम स्वतंत्र हैं तो मंत्र में यह कहा कि यदि कर्मों के बंधन से छूटना है सेक्टर तो में काम ही करो उसमें तो फिर और कोई रास्ता नहीं बाकी आपकी इच्छा है आपको बंधन में फंसना हो तो, तो जैसा कर्म वैसा फल निष्काम कर्म करोगे तो मोक्ष हो जाएगा उसका फल मोक्ष है निष्काम कर्म अब सकाम कर्मों का फल बंधन है जाति आयु हो दृष्टिकोण से देखेंगे तो फल भोगने में स्वतंत्र भी है जब कर्मकर्ता की इच्छा फल देने वाले के नियमानुसार हो जाएगी Gracias. से ये सार निकला कि वो अपनी फल भोगने में भी स्वतंत्र है उसको जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर ले तो उसने अपनी इच्छा से फल का चुनाव किया बीच में एक कड़ी कर्म की बाकी रही जैसा फल चाहिए वैसा ही कर्म कर लो बस तो आप फल भोगने में स्वतंत्र हैं परतंत्रता तो उधर आती है कि जब कर्म करे बुरा और फल चाहे अच्छा वह परतंत्रता है वहां नहीं चलेगी हमारी बात कर्म करने वालों की मर्जी भी वहां नहीं चलेगी ये कर्म करे बुरा और फल चाहे अच्छा वो नहीं करे तो ईश्वर ने यहां हमको संदेश दिया इस मंत्र में कि हे मनुष्य यदि कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता और कोई दूसरा रास्ता नहीं और वो यह है कि निष्काम कर्म करो तो व्यक्ति को सबसे पहले सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए सबसे ऊंचा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए यदि वो न कर पाए तो फिर नीचे उतरने की बात सोचनी चाहिए तो सब लोग प्रयत्न करेंगे कि हम निष्काम कर्म करें उसके लिए योग्यता बनानी पड़ेगी ज्ञान ज्ञान चाहिए वैराग्य चाहिए सहन शक्ति चाहिए तपस्या चाहिए बहुत कुछ चाहिए तब निष्काम कर्म होता है ऐसे नहीं होता और ये निश्चित बात है कि जो निष्काम कर्म करता है वो सबसे अधिक सुखी होता है निष्काम कर्म को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं इसलिए कि उसका फल भी सबसे ऊंचा है उसका फल सबसे अधिक है और फल हमारे हमारे पास क्या है सुख सुख दुख यही तो फल है अंतिम बाकी तो संसाधन है अंतिम फल जो है कर्मों का वो है सुख या दुख अच्छा कर्म किया तो सुख मिलेगा बुरा कर्म किया तो अंत में दुख मिलेगा ये अंतिम फल है बाकी जो भी कुछ है वो सुख दुख की प्राप्ति का साधन है तो कहीं कहीं इस सुख दुख की प्राप्ति का जो साधन है उसको भी फल के नाम से कह देते हैं वास्तव में वो अंतिम फल नहीं है अंतिम हल जो है सुख कर दो तो निष्काम कर्म को प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि इसका जो फल है वो सबसे अच्छा है सबसे अधिक सुखी रहता है वो व्यक्ति जो निष्काम कर्म करता है उसके लिए उसको बुद्धि चाहिए संस्कार चाहिए वैराग्य चाहिए जन विज्ञान चाहिए तब वो बुद्धि से ठीक निर्णय ले सकता है कि मैं सकाम कर्म करूं या निष्काम कर्म करूं यदि ज्ञान विज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं है पूर्व जन्मों के इस जन्म के संस्कार नहीं है पुरुषार्थ नहीं है तो फिर बुद्धि से ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा वो तो सकाम कर्म को लक्ष्य बनाया और जब सकाम कर्म को लक्ष्य बनाएगा फिर दुख हो गया फल में न्यूनता आएगी सबसे अच्छा ऊंचा सुख नहीं मिलेगा और जो व्यक्ति सकाम कर्म का लक्ष्य बनाकर चलता है वो घबरा भी जाता है वो दुखी हो जाता है जब उसको ठीक ढंग से काम में सहयोग नहीं मिलता वो घबरा जाता है वो सोचता भाई ये काम अपने बस का नहीं निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी घबराता नहीं वो पहले सोच समझ के निर्णय लेता है कि मुझे ये काम करना है अधिक कर दिया कम मिला तो कम कर दिया उसको छोड़ के बीच में नहीं भागना या तो पहले सोच समझ के निर्णय लो तो जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वो इसीलिए सुखी रहता है और उसको कोई डर नहीं लगता कभी वो घबराता नहीं कभी चिंता में नहीं पड़ता कि ये क्या हुआ इस तरह से निष्काम कर्म करने की योजना व्यक्ति को बनानी चाहिए इस पद्धति से करना बीच में छोड़कर नहीं भागना या तो पूरा करके छोड़ेगा या भी काम करते करते मर जाए कोई परवाह नहीं अर्जुन को यही तो समझाया था श्री कृष्ण जी महाराज ने वो बीच में छोड़ के भाग रहा युद्ध के मैदान में जब सेना आमने सामने खड़ी हो गई और जो धमक के बज गए सब बिगुल बज गए युद्ध के आरंभ होने वाले अब देखा भाई ये तो गड़बड़ है यहां तो बहुत कठिन परिस्थिति है अब वो बीच में छोड़ के भागने लगा तो श्री कृष्ण जी महाराज ने उसको याद दिलाया देखो तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा काम युद्ध लड़ना है तुम भाग भागते हो बीच में तो लोग क्या कहेंगे कायर आदमी अर्जुन कायर था आने वाली पीढ़ियां तुमको क्या बोलेंगी थोड़ा सोचो तो सही क्या कहेंगी तुम्हारे बारे में अर्जुन कायर था या अर्जुन वीर था ऐसे बीच में छोड़ के भागोगे तो लोग कहेंगे अर्जुन कायर तुम कायर हो तुम वीर हो गैर लोग छोड़ के भागते मैदान को वीर लोग नहीं छोड़ते तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा काम युद्ध लड़ना लड़ो हर जीत की चिंता मत करो परिणाम किसी के हाथ में नहीं कर्म करना हमारे हाथ में है इसलिए वो श्लोक बताया उसके बात चले थी नर्म कर्म के बाद अधिकार माँ फल है कदाचन कर्म करने काम पूरा करता है उसको घाटा कभी नहीं होगा कभी नुकसान नहीं होगा अगर तो जीत गया है हार जाएगा तो भी उसको स्वर्ग मिलेगा हल तो मिलना पक्का है हल की तो गारंटी है परिणाम की गारंटी नहीं हल की गारंटी है कर्म किया तो फल निश्चित मिलेगा गया तो राज्य मिलेगा तो ये दोनों बात समझा दी अर्जुन को कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन तू तो चिंता क्यों करता है तेरे तो दोनों हाथ में लगे हुए घबरा क्यों अगर हार गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो राज्य मिलेगा फिर क्यों चिंता करते हो लड़ो हमारा काम लड़ना है बीच में छोड़ के भागने वाले लोग कायर हो ऐसा ऐसा उसको पट्टी बढ़ा दी कृष्ण जी ने अर्जुन को और वो तैयार हो गया कि हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल लड़ूंगा नष्टो मोह लब्धा प्रज्ञा मेरी अब खत्म हो गई है अब मुझे बुद्धि ठीक आ गई अब लड़ो करिष्य वचनम तब अब आप जो कहोगे वही करो उसकी बुद्धि ठीक हो क्या घमासान युद्ध किया उसने जीत भी गए तो इसलिए जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है परिणाम की चिंता नहीं करता परिणाम की चिंता का मतलब कितना होगा ऐसा होगा कैसा होगा काम करना है वो काम करता है सोच समझ के काम करता है और वो ये चिंता नहीं करता कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए जितना होगा होगा काम करो तो जो इस तरह से चलता है तो वो घबराता नहीं वो किसी की परवाह नहीं करता किसी की चिंता नहीं करता और काम छोड़ के भागता नहीं जो काम छोड़ के भागता है मतलब वो घबरा गया डर गया तो उसमें से काम कर्म किया सकाम कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए ये आज का मंत्र हमको संदेश दे रहा है और शंका और कोई नहीं इसका मतलब यह है कि जितने स्तर का वो परिणाम चाहता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए ऐसा वो सोचता है वो इसकी चिंता नहीं करता कि मुझे इतना परिणाम मिलना चाहिए और नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा यह नहीं सोचता उसको सौ मील तक दौड़ लगानी उसका लक्ष्य सौ मील का तो वो ये नहीं सोचता कि सौ मील पार होना ही चाहिए हो जाए तो अच्छी बात है होना तो चाहिए पर यदि उसको बाद में ये दिखने लगे कि मैंने तो सौ मील तक दौड़ने का लक्ष्य बनाया था मैं तो बीस में ही थक गया बीस में थक गया तो कोई बात नहीं उसमें दुखी क्यों होना घबराना क्यों वो यू नहीं सोचता लोग क्या करेंगे देखो ये बीस तक ही भाग पाया वो ये चिंता नहीं करता भाई जितनी ताकत है उतनी दौड़ लगाई बीस मील तक जाने की ताकत थी बीस मील पार कर लिया बहुत हो गया अब लोग बोले तो बोले उनकी चिंता नहीं करो तो हमारी ताकत इतनी थी हमने इतनी कर और हमको कोई साधन वाधन मिल जाएगा तो हम बीस का चालीस कर दें कुछ सहयोग साधन भी तो मिलना चाहिए तो वो इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं बीस मील ही जा पाया अथवा तीस मील ही जा पाया सत्तर अस्सी मील तो बाकी रह गया रह गया तो रह गया उसमें उतरता नहीं घबराता नहीं यदि उसको साधन सहयोग अधिक मिल जाएंगे तो पचास साठ भी पार कर जाएगा और और अधिक साधन मिल जाए तो सौ तक भी पार कर जाएगा ये मतलब है वो चिंता नहीं करता कि बीस हुआ या तीस हुआ उधर नहीं ले जाना कि वो परिणाम अच्छा निकला कि खराब निकला वो नहीं परिणाम तो अच्छा ही निकलेगा मात्रा की बात है बीस मील पार हुआ या तीस मील पार हुआ या चालीस मील पार हुआ उसकी परवाह नहीं है वो काम करता अपनी पूरी शक्ति लगाता फिर कोई चिंता नहीं यहां उसने भूल कर दी यहां उसने भूल दी तो भूल गई तो उसका दंड भोगना पड़ेगा फिर उसमें घबराना नहीं चाहिए जो भूल की उसको सुधारो जहां भूल की उसका सुधार करो अन्यथा दुखी हो जाओ आपने हवाई किले बना लिए कि दो साल में इतना कर डालूंगा अब इतनी आपकी ताकत से नहीं करने की और आपने ये सोच लिया कि हाँ जी इतना तो मुझे लोग सहयोग दे ही देंगे और मैं इतना तो कर डालूंगा तो आपने भूल करी ना आपको लोगों के सहयोग देने का अनुभव नहीं और अपनी कार्यक्षमता का भी अनुभव नहीं आपने ऐसे हवाई किला बना दिया कि हर दो साल में तो इतना करेगा लोग अब आपने क्यों हवाई किला बनाया आपकी भूल है उसको सुधारो अपनी बुद्धि को वापस ठीक ठिकाने पर लाओ और ये सोचो कि मैंने गलत निर्णय लिया था मेरी खुद की इतनी क्षमता नहीं थी और मैंने ये सोच लिया कि इतना कर दूंगा दो वर्ष में और समाज के लोग मुझे इतना सहयोग देंगे ये भी मेरी भूल थी अब मुझे समझ में आ गया अब सच्चाई समझ में आई कि मेरी क्षमता इतनी नहीं थी और समाज के लोग भी इतना सहयोग देने वाले नहीं थे अब जितना दे रहे उतना ले लो सहयोग और जितनी आप में बुद्धि और ताकत है उतना जोर लगा लो फिर उतनी बात सोचो कि मेरी वास्तविक क्षमता इतनी है और कितना लोग सहयोग देंगे तो मैं कितना काम कर दूंगा बात खत्म हो उसको नितान्त छोड़ के भाग जाना ये बुद्धिमत्ता नहीं उस काम को बिल्कुल छोड़ के भाग जाना ये समझदारी नहीं है इससे तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा कि ये बड़े बड़े हवाई किले बनाता है बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है हाँ जी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं वेद का प्रचार करूंगा धरती को उछल उछल कर दूंगा अब पांच साल में भाग जाता है घर में शादी कर लेता है तो लोगों का क्या विश्वास रहेगा इस पर जब तो पहले तो कहता था मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और धरती उछल उछल कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा चार वेद पूरे पढ़ूंगा और अब हो गई सारी टाइट फिर दो साल में वो छूट के भाग रहे हैं कि हाँ जी अपने बस का नहीं तो उसका फिर विश्वास टूट जाएगा